ऑफिस में हर्षित विक्रांत को आशा दिलाते हुए समझा रहा था अनुष्का और हर्ष ने तो अपनी पूरी कोशिश की थी लेकिन उस औरत ने ही एक्सेप्ट करने से मना कर दिया उन दोनों ने पहले से ही तैयारी कर रखी होगी उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि उन्हें पुलिस से क्या कहना है विक्रांत ने कहा अब उनकी स्ट्रेटेजी ही ये है कि उन्हें पुलिस के सामने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है सीनियर ऑफिसर पीके ने पक्का किसी न किसी को अशोकन के घर पर हैंड ओवर लेने के लिए भेज दिया होगा और अब अगर हम लोग वापस पुलिस स्टेशन गए तो फिर हर्षित को भी ये बात बखूबी समझ में आ रही थी अगर अशोकन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो फिर पूरा सीन बदल जाएगा और किसी भी हालत में अशोकन से कुछ भी उगड़वाया नहीं जा सकता तुम जल्दी से प्रोफेसर चौटाला को कॉल करो विक्रांत ने अपना दांत पीसते हुए कहा अच्छा अब प्लान सी स्टार्ट करो सच में आप श्योर हो कि हमें ये प्लान शुरू करना चाहिए अब अशोकन को भी पता चल गया है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और अब उसको काबू में करना बहुत मुश्किल है मुझे तो डर लग रहा है कि अगर हमारा प्लान सी सफल नहीं हुआ तो फिर हम सब लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे और हम ही नहीं बल्कि प्रोफेसर चौटाला के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी हर्षित ने हिचकिचाते हुए कहा तुम चिंता मत करो मैंने ऑलरेडी उनको सब कुछ बता दिया है विक्रांत ने कहा अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है डिले मत करो जल्दी कॉल करो उन्हें इसके बाद विक्रांत तेजी से भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया और फिर बाहर देखते हुए चिल्ला पड़ा हेलो विक्रांत की आवाज सुनकर बाहर मौजूद पुलिस वाले डर कर रुक गए वो सभी हैरान भरी नजरों से विक्रांत की तरफ देखने लगे क्या हुआ विक्रांत जी क्या बात है पीके साहब ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा फिर विक्रांत ने इंस्पेक्टर अशोकन की तरफ इशारा करते हुए कहा अशोकन तुम तुम ये नहीं जानना चाहते कि आखिर क्यों मैं तुम्हारी माँ के ऊपर शक कर रहा हूँ क्यों मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इस मर्डर में तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारा साथ दिया है क्या बातें कर रहा है तुम जब हम लोगों ने कोई मर्डर किया ही नहीं है तो तुम ऐसा कैसे कह सकता है अशोक ने विक्रांत की तरफ गुस्से से भरी निगाहों से देखते हुए कहा प्लीज तुम अब मुझे इस तरह परेशान करना बंद करो विक्रांत ने फिर अशोकन की तरफ थोड़ी हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा इंस्पेक्टर अशोकन तुम खुद क्राइम सीन के मेंबर हो पुलिस वाले हो तुम खुद से पूछो कभी तुम्हें डाउट नहीं हुआ कि ये सब इतने सालों से कैसे होता जा रहा है क्या डाउट क्या बातें कर रहा है क्या मतलब है तुम्हारा अशोकन ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत जी अभी छोड़िए हम लोग पुलिस स्टेशन चल रहे हैं वहाँ चल के जो भी बात करनी हो करेंगे प्लीज बीच में पी के मधु साहब ने बोलते हुए कहा वो विक्रांत से थोड़े असंतुष्ट नजर आ रहे थे और आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन विक्रांत के दिमाग में इस वक्त कोई और ही कहानी चल रही थी उसने पी के मधुर साहब की बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए आगे बोलना शुरू किया अशोकन क्या तुम्हारी माँ बासु लहरी ने तुम्हें ये बताया कि तुम्हारे बाप का खून वजाहत अली ने किया था और उसी वजहत अली ने तुम्हारी माँ के साथ रेप भी किया था तुम बकवास बंद करेगा अशोकन अपनी माँ के बारे में इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था सो उसने गुस्से में आकर अपना दांत पीसते हुए विक्रांत को शांत करने की कोशिश की भले ही वजारत अली को उसके जुर्म के लिए जेल भेज दिया गया था लेकिन उसकी फैमिली के लोगों ने ये बात फैलानी शुरू कर दी थी कि तुम्हारी माँ बासु ही रियल मर्डरर है उसने जो लाइट हाउस के गार्ड यानी कि तुम्हारे बाप का खून किया था और फिर उनके कत्ल का इल्जाम वजाहत अली पर लगा दिया था बहुत हो गया बस अशोकन की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी अब उसके अंदर विक्रांत की बातें सुनने की हिम्मत नहीं बची थी वैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें जरूर बताया होगा कि इस केस की वजह से उन्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ी थी विक्रांत ने बिना किसी झिझक के आगे बोलते हुए कहा उनके लिए यहाँ वर्कला में रहना मुश्किल हो गया था और उन्हें ये जगह छोड़कर भागना पड़ गया था फिर विक्रांत ने बिना रुके आगे बोलते हुए कहा तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ से लेकर भाग गई थी कुछ दिनों तक वो अपनी पहचान छुपा कर रह रही थी फिर उसने एक आदमी से शादी कर लिया मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा बचपन बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है तुम लोग गरीब थे और रहने का भी ठिकाना नहीं था बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा होगा समझ सकता हूँ मैं तुम तुम चुप करो ये सब बताकर तुम क्या साबित करना चाहता है अशोक ने विक्रांत को तरेरते हुए कहा हाँ अभी हम लोग पुलिस स्टेशन चल रहे हैं ना सीनियर ऑफिसर पी के मधु साहब ने भी विक्रांत को समझाते हुए कहा हम्म लेकिन विक्रांत ने इशारे में ही उनसे थोड़ी देर रुकने की मोहलत मांगते हुए कहा तुम्हारी माँ ने एक ऐसे शख्स से शादी की थी जिसकी पहले से भी एक शादी हो चुकी थी लेकिन बेचारी करे भी तो क्या उसे बस खुद को दुनिया की नजरों से बचा कर रखना था किसी तरह बेचारी तुम्हारे सहारे अपनी जिंदगी काटती रही वो तब तक इसी तरह दुख में अपना जीवन काटती रही जब तक कि तुम्हें पुलिस में नौकरी नहीं मिल गई सच में तुम्हारी कहानी तो बहुत दुखद है ये सब सुनकर वहां पर मौजूद अन्य लोग भी विक्रांत की बातें सुनकर बेहद कंफ्यूजन में थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत क्या कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन अचानक से विक्रांत के सुर बदल उठे और उसने थोड़ी तेज लफ्जों में बोलते हुए कहा अशोकन क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर हमेशा इधर उधर भटकती क्यों रहती थी वो अपनी पहचान छुपा कर क्यों रखती थी वो किसी को ये क्यों नहीं पता चलने देना चाहती थी कि उसका नाम बासु लहरी है तुम अशोकन विक्रांत को बेहद गुस्से से भरी नजरों से घूरने लगा लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये एहसास जरूर हो गया था कि विक्रांत ने फिर से कोई पॉइंट पकड़ा हुआ है मुझे लगता है कि तुम्हें खुद इस चीज पर संदेह होना चाहिए विक्रांत ने हंसते हुए कहा तुम्हारी माँ भागी भागी फिर रही थी लेकिन पता है वो क्यों ऐसा कर रही थी वो खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए ऐसा नहीं कर रही थी बल्कि वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो खुद की नजरों में ही गिर गई थी सच्चाई तो यह है कि वो खुद ही यकीन नहीं कर पा रही थी नहीं अशोक ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा दरअसल लोग जो उसके बारे में बातें कर रहे थे उससे तुम्हारी माँ को कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं विक्रांत ने बेरोखी से भरे लफ्जों में कहा सच्चाई तो यह है कि तुम्हारे असली बाप का मर्डर और वजाहत को मर्डर के इल्जाम में फंसाने का काम तुम्हारी माँ ने ही किया था और वो अपने इस जुर्म की वजह से दुनिया की नजरों से नजरें मिलाकर नहीं चल पा रही थी मैं तेरी जान ले लेगा अशोक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा मानो वो विक्रांत को अभी टुकड़ों में काट कर रख देगा मुझसे झूठ मत बोलो विक्रांत ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा तुम्हें शुरू से ही अपनी माँ पर शक था लेकिन खुद को कभी यकीन नहीं होने देना चाहते थे कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे बाप का खून किया तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे आह अशोकन का पारा और हाई हो चुका था उसने गुस्से में जोर से दहाड़ते हुए कहा मैं मैं तेरा खून पी जाएगा मैं तेरा खून पी जाएगा रोको उसे जल्दी करो जब अशोकन खुद को पुलिस वालों की पकड़ से छुड़ाकर विक्रांत के ऊपर झपटने की कोशिश कर रहा था तभी पी के मधुर साहब ने पुलिस वालों को ऑर्डर देते हुए उसे रोकने के लिए कह दिया उसके साथ ही उन्होंने विक्रांत की तरफ गुस्से से भरी निगाहों से देखते हुए कहा विक्रांत जी हो गया आपका अब बस कीजिए हमें अब तुरंत पुलिस स्टेशन चलना है ठीक है विक्रांत ने चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था पी के मधु साहब ने विक्रांत की तरफ एक नजर देखा और फिर अशोक उनको बोट की तरफ चलने का इशारा कर दिया लेकिन अभी वो मात्र दो कदम चला होगा की अचानक से विक्रांत का फोन बच पड़ा गजब का है दिन सोचो जरा एक बार फिर से विक्रांत के फोन की तेज रिंगटोन ने सबको हैरत बढ़ा दिया वहाँ पर मौजूद पुलिस वाले भी रुककर विक्रांत की तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगे विक्रांत इस वक्त अशोकन को यहाँ से जाते हुए देख रहा था और उसके साथ ही उसने कॉल को पिक किया अभी उसने कॉल को पिक किया ही था कि अचानक से वो चिल्ला पड़ा क्या विक्रांत को इस तरह शॉक कर वहाँ पर मौजूद पुलिस वाले मुड़कर उसकी तरफ देखने लग गए क्या कह रहे हैं आप ओह विक्रांत ने अबाक होकर अपने मुंह पर हाथ लगा लिया फिर वहाँ पर मौजूद दूसरे पुलिस वालों की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ा एक मिनट एक मिनट रुको विक्रांत जी अब क्या हुआ पी के मधु साहब अब तक वाकई में विक्रांत से काफी परेशान हो चुके थे ठीक है थैंक यू ये सही रहेगा इसके बाद विक्रांत ने फोन रख दिया और फिर अशोकन की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाने लगा अशोकन तुम सच्चाई जानना चाहते हो ना विक्रांत तुम क्या कहना चाहता है अशोकन ने इरिटेट होते हुए सवाल किया इस बार मेरे पास पूरा एविडेंस है तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आ जाएगी विक्रांत ने अपने हाथ में फोन लेकर इसे अशोकन को दिखाते हुए कहा मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक था इसी वजह से मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवा लिया है और तुम्हारे डीएनए को लाइट हाउस वाले मर्डर केस के लोगों और फिल्म क्रू के मेंबर्स के साथ मैच कराने के लिए कह रखा था मैंने सबका डीएनए टेस्ट करवाया था और सबके डीएनए को मैच भी करवाने के लिए बोल रखा था मैंने तुम्हारे बाल से तुम्हारा डीएनए रिपोर्ट बनवाया इतना कहते हुए विक्रांत ने अपना फोन खोल इशारा करते हुए कहा जस्ट अभी मेरे पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ही फोन आया हुआ था उन्होंने मुझे मैसेज भी भेजा है उन्होंने सबका डीएनए कंपैरिजन कर लिया है और उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास आ चुकी है एक मिनट हम्म, ये रहा विक्रांत जी क्या है ये पीके साहब ने क्रोधित होते हुए कहा एक मिनट मैं आपको फोन दे रहा हूँ आप खुद ही सबका डीएनए रिजल्ट देख लीजिए इतना कहते हुए विक्रांत ने एक पुलिस वाले को फोन पकड़ा दिया और उस पुलिस वाले में दौड़ते हुए फोन ले जाकर पीके मधु साहब के हाथ में रख दिया अब इसे क्या कहेंगे कर्मा विक्रांत ने अशोकन की तरफ देखते हुए कहा या अब इसे भी किस्मत का नाम देंगे ओ पीके साहब ने जैसे ही विक्रांत की इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ा वो बिल्कुल शॉक्ड रह गए मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो ये कैसे हो सकता है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा इस डीएनए रिजल्ट के अनुसार इंस्पेक्टर अशोकन और नौशाद अली स्क्रिप्ट राइटर और विक्टिम नौशाद अली एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। ये दोनों एक दूसरे के कजिन ब्रदर हैं। ये सुनकर वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया क्या बकवास कर रहे हो अशोक ने बिल्कुल शॉक्ट होते हुए कहा दूसरे शब्दों में इंस्पेक्टर अशोक के बायोलॉजिकल बाप और नौशाद अली के बायोलॉजिकल बाप सगे भाई हैं विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और फिर तुरंत ही अशोकन से पूछ बैठा अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर कौन है ये अभी भी नहीं पता चला है